जो करनी करने वाला है जो करनी करने वाला है वह करता है कहता कब है यह तो मशहूर कहावत है जो गरजा है बरसा कब है श्रीमान कभी पाताल गए बलिराजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को घुड़शाला में दम मुंडों का जब दीपाधार बनाया था तब दया आई थी बाल बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी कुछ है धनुष महोत्सव में जब सौ बदम पर बिंदी धर दी थी क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं काटे तन इंद्र जालिए यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ बलिहारे यह भी तो कहिए मैं बालिकाख का बंदी हूँ ऐसी बात बनाने वाले ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे भाले अपनी महिमा गाने वाले ऋषियों को सताने वाले लंकाधीश कहाने वाले पर नारी चुराने वाले जिनको साधारण समझा है तब से बालक माना है अब भी बचने का अवसर है वैद्य चिकित्सा को तत्पर है चूक गए तो डर ही डर है मृत्यु नित्य करती सिर पर है दिग्गज दादुर को मारे तो उसको नहीं प्रतिष्ठा कुछ है यही झमेला है झंझट है वध करने में सकुचाहट है फिर भी सारी बात प्रकट है रघुवंशी का क्रोध विकट है सोने वाले जग आलसपन को अपने त्याग तज कर हुंकार का राग ले आ मानस में अनुराग ऊँचे स्वर से जगा रहे हैं तेरे ही तो जगाने वाले ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे भाले अपनी महिमा गाने वाले ऋषियों को सताने वाली लंकाधीश कहाने वाली पर नारी चुराने वाले ऐसे बात बनाने वाले ऐसे बात बनाने वाली रावण बोला बंद कर उपदेश का कार्य तपसी का तो दूत है या कोई आचार्य मर्यादा के भीतर ही रह अधिकार नरार बढ़ाने का बकवादे तेरा काम नहीं सिर हो हो कर समझाने का वह दोनों आप निबट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है अंगद बोले ठीक है सुनिए तनिक तथापि यह आवश्यक विषय है बक बक नहीं कदापि यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे सब बने रहेंगे ठाट बाट जनपथ सुनसान नहीं होंगे रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणित मैं होगी जय और पराजय फिर होगी पहले तो महाप्रलय होगी जिस समय अराजकता फैले तो घर ही में उन जाए घर ही में ठन जाएगी यह हरे भरे लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी बच्चे अनाथ हो जाएंगे बहुए विधवा हो जाएंगी लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को ग्राम मचाएंगी एक और भी बात है वह है अपना भाव तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महान भाव जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कृत भी जीवित है अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है जो बाल काख में दबा रहा यह वही रावण राजा है जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा यश मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा इसलिए जियो तुम खूब जियो हो कर कीर्ति स्तंभ बालिवर के जीने का साधन भी यह है सेवक हो जाओ सियावर के रावण बोला बंद कर वचन व्यंग आघात छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात जो कायर और भयातुर है वे संधि संदेश पठाते हैं सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड माँ चंद नहीं तो राजदूत है इस कारण दे रहा सभी में दंड नहीं पर अब मैंने यह ठान लिया है दुर्वचनों का बदला लूँगा जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूँगा अंगद बोले हो चुका शोले का आदेश तो सुन ले फिर अब अधम खरा खरा उपदेश अज्ञानी अभिमानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है तू अपनी इससे खी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है क्या सुने न यह लोकोक्त कभी अन्यायी अधिक न जीता है जब दिन मरने के आते हैं अल्प अत्यल्प आयु रह जाती है तो बुद्ध निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है पापों ने अंधा किया तुझे अंतिम दिन आने वाला है दो चार रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है उस जग में राज से मिल सब मेरे कुशल सुना देना सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जाओ श्री कुंभकर्ण मिथ्री मेघनाद को साथ साथ ही लेता जाओ तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ कौन कौन सी होएगी सती तुम्हारे साथ यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग बोला दुर्भाषी ठहर यह दुर्भाषा त्याग जिस बलकट शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है वह तब से कल का बालक है बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है गुणहीन बाप ने जब जाना जब देश निकाल दिया उसे रोता है नारी बिरह में वह इस दुख ने मुर्दा किया उसे मेरे रजनी चर विकटानन मानव भक्षी कहलाते हैं ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं प्रभु के प्रति अपशब्द बोल यह जबदस भाल भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल